सीधे होकर के बैठेंगे मेरे साथ मिलकर के परमपिता परमेश्वर से श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ओ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभय न पशुभ्य ॐ शांति शांति इस सायकालीन वेला में उपस्थित बहुत ही मान व सम्मान के योग्य पूज्य आचार्य श्री श्रद्धे स्वामी जी महाराज आर्समास के योग्य भजनोपदेशक सतीश सोमन जी उनके साथी आर्समास के समस्त पदाधिकारीगण पूजनीय माताओं धर्म प्रेमी सज्जनों ब्रह्मचारी गण आपके गुजरात का भ्रमण करते हुए आपके इस आर समाज में हम लोग आए और हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप लोग बहुत अच्छी तरह से सहयोग सहायता व्यवस्था कर रहे हैं की है मैं आपसे एक बात पूछता हुआ आगे थोड़ी देर के लिए प्रवचन दूंगा आप बड़ा बनना चाहते होंगे और अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते होंगे ऐसी इच्छा है या नहीं है जो गृहस्थ लोग बैठे हैं हमारे विभाग को छोड़ करके क्या आप अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं हाँ, हाँ। बनाना चाहते हैं अब मैं पूछूं कि बड़ा कहते किसको हैं आप जानते हैं इस बात को अपने बच्चों को बड़ा तो बनाना चाहते हैं लेकिन बड़ा कौन होता है ये जानकारी है आपको ज्ञानवान बहुत सुंदर बहुत विशेष उत्तर दिया टिप्पणी नहीं कर रहा आगे बात बढ़ाता हूं ऋषि दयानंद जी से हमने पूछा कि ऋषिवर ये बताइए कि संसार में बड़ा कौन होता है जब तो महर्षि दयानंद जी से ये पूछा गया कि बड़ा कौन होता है ऋषिवर कहने लगे कि भाई हम तो वेद को मानने वाले हैं और वेद के बाद ब्रह्मा से लेकर के जैमनी मुनि ऋषियों जैमनी मुनि पर्यंत जो ऋषि हुए हैं उनको मानने वाले हैं महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि संसार में बड़ा कौन होता है हम बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं लेकिन ऋषियों की क्या मान्यता है उनसे पूछ करके बताते हैं ऋषिवर ने पुराने ऋषियों से पूछा और पूछ करके अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि बड़ा कौन है सत्यार्थ प्रकाश के दसवें समोल्लास को आप पढ़ेंगे तो संसार में सबसे बड़ा कौन व्यक्ति है वहां आपको मिल जाएगा एक व्यक्ति ने उत्तर दिया है इस सभा में बैठे हुए और दूसरी जगह आप आर्समास को छोड़ करके यहाँ प्रबुद्ध जन होते हैं स्वाध्यायशील होते हैं हजारों लाखों व्यक्तियों को इकट्ठा कीजिए और वहां ये प्रश्न पूछिए कि सबसे बड़ा कौन होता है कोई कहेगा कि बड़ा पैसे वाला होता है कोई कहेगा कि जिसके अनुयायी ज्यादा हैं वो बड़ा है कोई कहेगा कि जिसकी गर्दन हिलने लग गई बाल श्वेत हो गए पक गए वो बड़ा है अलग अलग उत्तर आएंगे लेकिन ऋषि क्या कहते हैं ऋषि ने कहा महर्षि मनु के आधार पर वित्तम बंधुर वय कर्म विद्या भवती पंचमी एतानी मान्य स्थानी गरियो यद यदुत्तरम कहने लगी यदि संसार में बड़े को खोजना है तो सबसे बड़ा व्यक्ति है पैसे वाला आपको अटपटा लगेगा पैसे वाले को ऋषि कहते हैं वो बड़ा है निश्चित रूप से बड़ा है और हमारा वेद क्या कहता है आर्य समाज में अनेक बार आपने सुना होगा आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी ने वेद के मंत्र के आधार पर कहा वयम श्याम पतयो रईणाम हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे अब ये धन ऐश्वर्य क्या है वो धन ऐश्वर्य हमने केवल और केवल चमकीली बिल्डिंग बना दी बहुत सुंदर मकान बनाए ढेर सारा पैसा बैंक में डाल दिया दो चार गाड़ियां हमारे मकान के सामने खड़ी हो गई इसको हमने लिया कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हैं वही ऋग्वेद में पूछा कि ये ऐश्वर्य क्या है ऐश्वर्य के लिए परमात्मा ने एक विशेष मंत्र दिया और वहां भी चित्रम रईम दा एक पद एक वो वाक्य वहां परमात्मा ने मंत्र में फिट कर दिया लगा दिया के चित्रम रईम दा हमारे लिए विचित्र धन दे और उस विचित्र धन की व्याख्या उस मंत्र में है हम वहां नहीं जाएंगे बड़ा विशेष धन दिया है और ये तो बहुत तुच्छ धन उस मंत्र में दिखाया है लेकिन फिर भी इस धन के भी हम स्वामी होवे और जिस व्यक्ति के पास ये धन है वो समाज में बड़ा कहलाता है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन कब तक बड़ा है उत्तर दिया था ज्ञानी बड़ा है लेकिन समाज में शीर शासन कर रखा है प्रबुद्ध जनों को छोड़ करके जो समझदार व्यक्ति है वो तो उसको बड़ा मानता है लेकिन साधारण व्यक्ति किसको बड़ा मानता है कठोर बोलता हूं आर्यसमाजों का अनुभव है मेरा एक योग्य विद्वान जिस समय बोल रहा होता है मंच के ऊपर और बहुत शास्त्रीय और व्यवहारिक बातें बोल रहा है उसने अपने जीवन में अनुभव किया है वो व्यक्ति जब माइक के ऊपर बोल रहा होता है विद्वान है योग्य है पूज्य है लेकिन उधर से एक व्यक्ति आया जिसको आप पूंजीपति कह सकते हैं जिसको आप नेता कह सकते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है आपके आर समाज में आया आते ही करते क्या है शायद मेरी बात कठोर लग जाए लेकिन सत्यता है हमने देखा कि जब वो व्यक्ति उधर मंच की तरफ आ रहा है योग्य विद्वान बोल रहे थे उन योग्य विद्वान के मुंह के सामने से माइक हटाया हटा करके वो जो पूंजीपति है उसकी प्रशंसा में लग गया अधिकारी प्रशंसा चल रही है उसकी वो योग्य विद्वान उसके लिए छोटा हो गया लेकिन पैसे वाला बहुत बड़ा हो गया उत्तर आया था ज्ञानी बड़ा है और ऋषि भी वहीं तक पहुंचाना चाहते हैं निश्चित रूप से पैसे वाला बड़ा है लेकिन ये बड़ा कब तक है कहने लगे वित्तम बंधुर वयह कर्म ये पैसे वाला तब तक बड़ा है जिसके ज्यादा अनुयायी हो वो जब पास में आ जाएगा तो पैसे वाला छोटा हो जाएगा पैसे वाला बहुत छोटा कब बंधु जिसके अनुयायी बहुत अधिक हैं जिनका जन समुदाय समर्थन करता है वो बड़ा हो जाता है वहां पैसे वाले की अपेक्षा से व्याख्या न करते हुए ये दो जब खड़े हों इनमें से कौन बड़ा हो इनमें से निश्चित रूप से बंधु वाला बड़ा हो गया लेकिन ये बंधु वाला भी कब तक बड़ा है वह कर्म जिसकी अवस्था जिसका अनुभव ज्यादा है यदि वो व्यक्ति आ जाता है यहां आर्य समाज में बहुत लोग कहते हैं युवाओं को नहीं आने देते हमारे सतीश जी भी कह रहे थे लेकिन सतीश जी युवा बैठे हुए हैं हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया आपने भ्रमण के लिए <laughs> हम तो हम तो भ्रमण के लिए आए हुए हैं लेकिन आर्य समाज में तो है ही फिर भी आर्य समाज में लोग कहते हैं युवा नहीं आ रहे और युवाओं को स्थान देना चाहिए निश्चित रूप से देना चाहिए लेकिन उन युवाओं के पीछे कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा निश्चित रूप से वो युवा भटक सकता है और भटका सकता है इसलिए वृद्ध जो बड़े होते हैं अवस्था में बड़े हैं जिन्होंने जीवन का अनुभव लिया है ये दो व्यक्ति हों और ये तीसरा जब व्यक्ति आ जाता है वह ये उन दो को छोटा कर देगा पैसे वाला सबसे छोटा हो गया वो अनुयायी जिसके अधिक हैं वो बड़ा हो गया और इसको भी छोड़ करके अनुभवी अधिक बड़ा हो गया और जब ये तीनों खड़े हों तीनों खड़े हों एक और व्यक्ति आ जाए तो ये तीनों छोटे होते चले जाएंगे कौन आ जाए कर्म अर्थात जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो व्यक्ति आ जाए श्रेष्ठ कर्म कर रहा है परोपकार कर रहा है वो व्यक्ति आ जाएगा तो ये तीनों के तीनों फीके पड़ जाएंगे और ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा आप देखेंगे श्रेष्ठ कर्म अन्ना हजारे जी पैसे वाले तो मुझे नहीं लगता कहते हैं एक मंदिर के एक कमरे में कोठरी में रहते हैं कोई सुविधाएं ज्यादा नहीं सुना है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है उनके श्रेष्ठ कर्म करने लगे तो अनुयायी भी बनने लगे वो अवस्था में भी बढ़े ये तीनों यदि कोई वहां खड़े हों और अन्ना जी आ जाएं तो श्रेष्ठ कर्म के कारण उनके अनुयायी भी और अवस्था से भी ये तीनों से बड़े हो जाएंगे श्रेष्ठ कर्म करने वाले परोपकार करने वाले समाज को जगाने वाले इन तीनों से ज्यादा बड़े चौथा बड़ा हो गया श्रेष्ठ कर्म करने वाला है यदि आपके यहां समाज में आप चलाते हैं इतना विशेष अपने भवन बना रखा है बहुत अच्छी गतिविधियां चलती हैं आपका संगठन भी है इसमें ये चारों व्यक्ति हों एक व्यक्ति आपके समूह में संगठन में बहुत सक्रिय है बहुत ज्यादा काम करता है प्रचार करता है लगा हुआ है और एक व्यक्ति के कुछ अनुयायी हैं एक व्यक्ति अवस्था में है एक व्यक्ति पैसे में अधिक है आप आकलन करेंगे किसको हम आगे रखना चाहेंगे पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज हैं उन्होंने हरियाणा में अपने दूरदर्शन में देखा हो एक कबीर पंथी है जिसका नाम है रामपाल लिखता तो संत है संत रामपाल लेकिन संत को हटा दीजिए संत पना उसमें नहीं दिख रहा इसलिए मैं केवल रामपाल बोल रहा हूं वो रामपाल ऋषि दयानंद जी के विषय में जहर उगलता है वो रामपाल वेद के मंत्रों के विपरीत अर्थ करता है और रामपाल जो वैदिक संस्कृति का वास्तविक स्वरूप है उस वास्तविक स्वरूप को विपरीत करके प्रवचनों में जनता के सामने उपस्थित करता है और उस रामपाल का वहां पूज्य आचार्य बलदेव जी पूरा का पूरा लोहा लिया और एक बार तो उस रामपाल को उनके आश्रम से निकाल करके फेंक दिया हमने सुना कि जिस समय मारीच इस देश में रहता था और मारीच का सामना जब श्री रामचंद्र जी से हुआ था और रामचंद्र जी ने एक तीर मारीच को लगाया था कहते हैं मारीच कितनी दूर जाकर के पड़ा था कितनी दूर पड़ा होगा सौ योजन कहते हैं शायद सतीश जी अब पता नहीं सौ योजन गए या नहीं गए लेकिन दूर जाके अवश्य पड़े होंगे और यही उक्ति यही घटा दी तो आचार्य बलदेव जी ने इतना उद्योग किया उस रामपाल को हटाने के लिए आर्य समाज में जागृति लाने के लिए उन्होंने रामपाल को एक अपने ऊर्जा भरी एक ठोकर लगाई थी वो रामपाल रोहतक से उठ करके वहां हिसार बरवाला में जा पड़ा और वहां से खाली हुआ पुलिस में भी गया वहां जेल में पड़ा रहा और अब फिर से वही रामपाल बहुत बड़ा वहां बैठ करके जेल से छुट गया है केस तो चल रहा है फिर से जहर उगल रहा है दूरदर्शन पे आप देखते होंगे लेकिन फिर उसके आश्रम को हटाने के लिए बहुत उद्योग किया आपने देखा हो समाचारों में हमारे चार पांच युवक मारे गए एक युवक पहले मरा दो युवक अब मरे और एक महिला की हत्या उन लोगों ने करवा दी कर दी और समाज में बलिदान हुआ और अब उस रामपाल के आश्रम के ऊपर आचार्य बलदेव जी के कारण ताला लगा हुआ है ये श्रेष्ठ कर्म है या निकृष्ट कर्म है और समाज में गति आ रही है अर्थात जो अवैधिक मान्यताओं को फैलाने वाला है वेद के विरुद्ध मान्यताओं को फैलाने वाला है उसको अलग कर देना एक तरफ हटा देना श्रेष्ठ कर्म है जब व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करने वाला हमारे सामने आता है तो तीनों फीके पड़ जाते हैं और ये चौथा व्यक्ति बड़ा बन जाता है लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है आप कह रहे थे ज्ञानी व्यक्ति बड़ा है और अपने बच्चों को क्या आप बड़ा बनाना चाहते हैं आपका उत्तर था हाँ हाँ में उत्तर था और कल हमारे पूज्य आचार्य श्री का मार्मिक प्रवचन हुआ जूनागढ़ में जूनागढ़ में क्या प्रवचन दिया था आचार्य श्री ने गुरुकुलों में आप देखेंगे कह रहे थे कि गुरुकुलों में विद्यार्थी जो आते हैं आप देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं अच्छा लगता है कि आर्य समाज में गति है यही रोजड़ में पीछे में जब था एक महाशय जी आए हुए थे हरियाणा से अहमदाबाद आए थे मेरा पता लगा मिलने के लिए आ गए आए तो विद्यालय दिखाने के लिए मैं साथ में गया साथ में गया तो उन महाशय जी ने दो व्यक्ति थे महाशय जी ने पूछा वहां के व्यवस्थापक जो हैं उनसे पूछा कि यहाँ कितने विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहते हैं व्यवस्थापक जी ने बताया कि जी यहाँ छह विद्यार्थी रहते हैं छे जब छे उन्होंने संख्या बताई तो महाशय जी का चेहरा बिगड़ गया और चेहरा बिगाड़ करके कहने लगे कि कुल छे कुल लगा दिया और बड़े आश्चर्य में कह रहे हैं कि कुल छे मैंने महासे जी को वहीं पकड़ा और मैंने कहा कि महासे जी कुल ये शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देता आप कुल लगाने वाले नहीं हैं आप कुल छे तब कह सकते थे यदि आपने गुरुकुल में इस विद्यालय में अपने बेटे को भेजा होता अथवा अपने पौत्र को भेजा होता तब तो आप कुल लगा सकते थे लेकिन अपने बेटे और पोते को तो गोद में लगाए हुए हो और यहां कुल लगा दिया अपने बड़े आश्रय में भर रहे हो कि कुल छे या तो कुल ही छे मिलेंगे यदि आप नहीं देंगे तो श्रेष्ठ तो बड़ा तो बनाना चाहते हो लेकिन बड़े की परिभाषा ऋषि क्या कहते हैं विद्या भवती पंचमी जहां विद्वान होता है विद्वान समाज में सबसे बड़ा होता है और यदि आपके मस्तिष्क में ये घुस गया ऋषि की बात आ गई कि समाज में विद्वान बड़ा होता है जो वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होता है वो बड़ा होता है उस दिन आप अपने बच्चों को घर में नहीं घुसटने देंगे और अन्य अन्य दूसरी योजनाएं नहीं बनाएंगे उन बच्चों के अंदर एक संस्कार डालेंगे शायद वो बच्चा आपका गुरुकुल में चला जाए गुरुकुल में जाकर के विद्वान बने और विद्वान बनने के बाद आपकी छाती चौड़ी हुए कि हाँ मेरा बेटा बड़ा बन गया है और बड़े की परिभाषा ऋषियों ने यही दी है आपने जो उत्तर दिया था ज्ञानी बड़ा है ऋषि भी यही कहते हैं वित्तम बंधुर वय कर्म विद्या भवती पंचमी एतानी मान्य स्थानी गरियो यद यदुत्तरम जो बाद बाद वाले हैं वो बड़े हैं और जो पीछे पीछे वाले हैं वो छोटे हैं अब आप देखेंगे पैसे वाला सबसे पहले आया था और विद्वान सबसे अंत में आया ऋषि तो शीर शासन करते हैं पैसे वाला सबसे छोटा उससे बड़ा जिनके अनुयायी ज्यादा हैं वो उससे बड़ा अवस्था वाला अनुभव वाला उससे भी बड़ा श्रेष्ठ कर्म वाला और सबसे बड़ा है विद्वान ज्ञानी यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं बड़े बनाना चाहते हैं तो ज्ञानी और विद्वान बनिए यही समाज और राष्ट्र की मांग है एक समाज की व्यवस्था विद्वानों से बनती है ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे शायद मैंने थोड़ा सा समय ले लिया आचार्य श्री का मार्मिक प्रवचन हमें सुनना है हाँ, आप लोगों ने बहुत सुंदर हमारी व्यवस्था की है आचार्य श्री इसके लिए आपके आपको धन्यवाद भी देंगे मैं भी अपनी ओर से धन्यवाद कहता हूँ ओम शाम